मिस्टर मलिक से लेकर पुलिस वालों तक किसी ने भी ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि किडनैपर्स इतनी चालाकी से किडनैपिंग के पैसे वसूलेंगे और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि बैग के अंदर पुलिस ने जो ट्रैकिंग डिवाइस लगाई थी वो पैसे देने के पांच दिन बाद तक सेम लोकेशन ही शो करती रही लेकिन वहां से पैसे गायब थे गायब हुए पांच बच्चों के साथ मिनी बस का ड्राइवर अहमद खान भी लापता था और उनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था किडनैपर्स ने पैसा भी ले लिया था और बच्चों को छोड़ा भी नहीं था पुलिस महीनों तक हाथ पैर मारती रही लेकिन कुछ नहीं सफलता मिली क्योंकि केस काफी हाई प्रोफाइल था इस वजह से सरकार की तरफ से भी काफी दबाव था यहाँ तक उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक भी इस केस पर अपनी नजर बनाए हुए थे और वो लगातार पुलिस पर इस केस को सॉल्व करने का दबाव बनाते रहे थे इस बाबत कई बड़े पुलिस ऑफिसर का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी हुआ था और कईयों को तो उनका डिपार्टमेंट ही बदलकर पनिशमेंट दी गई थी लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल सका पुलिस ये तक नहीं पता लगा पाई कि आखिर कुल कितने लोगों ने मिलकर इस किडनेपिंग को अंजाम दिया था तब से लेकर आज तक मिस्टर मलिक को भी ये पछतावा होता रहा कि शायद उन्होंने अगर उस दिन खाई में पैसे ना फेंके होते तो क्या पता आज उनका बेटा उनके साथ होता उस वक्त विक्रांत बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रहा था वैसे तो उसके पास केस की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी लेकिन फिर भी वो दोबारा बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रहा था इस बार उसने केस से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी नोट किए जो कि उसने पहले नहीं नोट किए थे उसे ये एहसास हो रहा था कि इस केस में अभी थोड़ी और डिटेल रिसर्च की जरूरत है लेकिन फिर भी इतने कम समय में उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया अभी वो कुछ भी खास पकड़ नहीं पा रहा था इस वक्त विक्रांत की नजर अपने हाथ में पड़े हुए बैग पर पड़ी जो कि उसे थोड़ी ही देर पहले मिस्टर मलिक ने पकड़ाया था बैग में पूरे दो लाख रुपए जो के त्यों रखे हुए थे जब जतिन ने विक्रांत को बताया था कि ये पैसे किसी किडनैपिंग केस से जुड़े हुए हैं तब तो विक्रांत ने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि दोबारा से उसके पास ये पैसे आएंगे लेकिन इसे किस्मत का खेल ही कहेंगे कि ये पैसे घूम फिर कर फिर से विक्रांत के पास आ गए थे जब मिस्टर मलिक ये पैसे विक्रांत को दे रहे थे तब वो इसे लेने से मना भी कर रहा था लेकिन वो एकदम से विक्रांत के पीछे पड़ गए थे उन्होंने जबरदस्ती ये पैसे विक्रांत के हाथ में रख दिए थे विक्रांत को तो जैसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था आज खुद मिस्टर मलिक ने विक्रांत से बात की थी और उन्होंने विक्रांत को बताया था कि वो खुद इंटरनेशनल बैंक यूनियन के अध्यक्ष थे जब किडनैपर्स ने उनके पैसे मांगे थे तब उन्होंने खुद ही बैंक से बिल्कुल न्यू करेंसी निकलवाकर किडनेपर्स को देने के लिए रेडी किया था उस वक्त सभी नोटों के नंबर बिल्कुल सीरियल में थे पुलिस ने भी इन नोटों की फोटोग्राफी करवाई थी और नोटों का नंबर भी नोट किया था बाद में हर बैंक के पास नोटों के इन नंबर को भेजकर ये भी चेक करने की कोशिश की थी कि कहीं ये नोट उनके पास दोबारा से लौट कर तो नहीं गए हैं लेकिन कहीं से कोई सबूत नहीं मिला था ऐसा लग रहा था कि किडनैपर्स ने इन नोटों को छुआ तक नहीं था बस इसे ले जाकर वहां सुरंग के भीतर पत्थर के नीचे रख दिया था और फिर उसी पत्थर के पास से बच्चों का कंकाल भी मिला है विक्रांत को यही बात थोड़ी अजीब लग रही थी आखिर किडनैपर्स ने पैसे बच्चों की लाश के पास ही क्यों रखे थे जरूर इसमें कोई ना कोई गेम था विक्रांत काफी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन अभी वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता है उस टाइम पुलिस ने हर तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया था फिंगरप्रिंट कॉल डिटेल ट्रैकिंग हर तरह के हथकंडे पुलिस ने मुजरिम को पकड़ने के लिए अपनाए संगीता ने आगे बोलते हुए कहा लेकिन फिर भी कहीं से कोई सुराग नहीं मिला आखिर में बहुत से लोगों ने ड्राइवर अहमद खान पर भी शक किया था पुलिस का कहना था कि अगर अहमद खान मेन किडनैपर नहीं था तो कम से कम वो किडनैपर के साथ मिला तो जरूर ही था क्योंकि बिना उसके सहयोग के ये, ये किडनैपिंग नहीं हो सकती थी लेकिन अब सच क्या है वो किसी को पता नहीं है संगीता ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा वो अपनी बात खत्म कर चुकी थी ओके पुष्कर ने फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की हेड गीता की तरफ इशारा करते हुए कहा गीता पहले से ही व्हाइट बोर्ड के पास में खड़ी थी विक्रांत बहुत सीरियस होकर गीता की बात ध्यान से सुनने लग गया अभी तक फॉरेंसिक टीम की कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं आई हुई थी जरूर फॉरेंसिक टीम को सुरंग के भीतर कुछ न कुछ खास मिला हुआ था गीता चेहरे से काफी थकी हुई लग रही थी लेकिन उसकी आवाज अभी भी एकदम कड़क ही लग रही थी उसका जोश बरकरार था व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर सबसे पहले सुरंग के भीतर मिला कंकाल दिखाई पड़ा गीता ने कंकाल की तरफ स्टिक का इशारा करते हुए बोलना शुरू किया सुरंग के भीतर कुल पांच कंकाल मिले थे इसके बाद अगली स्लाइड में पूरी स्क्रीन पर एक अकेला कंकाल दिखाई पड़ा डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता लगा कि ये वाला कंकाल 9 साल के प्रभात का है दूसरा ये जूही चोपड़ा का है जो कि उस वक्त तकरीबन 12 साल की थी इसके बाद ये तीसरा वाला तरुण कपूर का है जिसकी उम्र उस वक्त मात्र 11 साल थी और ये है सुमित मल्हान जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 10 साल थी इन चारों बच्चों के अलावा हमें जो पांचवा कंकाल मिला है वो है ड्राइवर अहमद खान का जैसा कि आप खुद देख रहे होंगे कि ये वाला कंकाल बाकी की तुलना में बड़ा दिख रहा है गीता ने स्टिक से व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा जैसे गीता ने यह बताया कि पांचवा कंकाल स्कूल बस के ड्राइवर अहमद खान का है तो सभी सन्न रह गए विक्रांत भी सोच में पड़ गया वो सोचने लगा कि अगर अहमद खान भी मर चुका था और वो भी किडनैप हुए बच्चों के साथ ही मार दिया गया था तो फिर एक डेड बॉडी और कहा गई कुल पांच बच्चे किडनैप हुए थे और अहमद खान को लेकर वहां से छह लोगों के कंकाल मिलने चाहिए अभी तक गीता ने सबसे छोटे बच्चे उसका नाम नितिन था नितिन खरबंदा उसके बारे में क्यों कुछ नहीं बताया इन पांचों के अलावा हमें वहां से कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें गायब हुए बच्चों में से नितिन खरबंदा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है उस वक्त वो लगभग सात साल का था फिर गीता ने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा अभी तक की लेटेस्ट अपडेट मुताबिक सुरंग के भीतर हमने पूरी खोजबीन कर ली है लेकिन हमें वहां से और कोई भी खास एविडेंस नहीं मिला है लेकिन फिर भी अभी हमारी इंजीनियरिंग टीम वहां पर लगी हुई है वहां आसपास के माइंस और पहाड़ी सुरंगों में अभी भी हमारे लोग खोजबीन कर रहे हैं जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको इसकी अपडेट दे देंगे सुरंग के भीतर से हमारे ऑफिसर विक्रांत सक्सेना को जो ये चमड़े का बैग मिला है ये वही बैग है जिसका इस्तेमाल उस साल किडनैपर्स को पैसे देने के लिए किया गया था गीता ने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा हमने भी बैग की पूरी जांच कर ली है इसमें हमें कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है बैग में सिर्फ पैसे ही थे कोई खास फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं मिल सका अब जाकर विक्रांत ने राहत की सांस ली उसे खुद की किस्मत पर गर्व हो रहा था सोचो पहले तो सुरंग के भीतर उसे बैग मिला और फिर बाद में उस बैग से कोई खास सबूत भी नहीं मिला इसीलिए उसे अब ये बैग वापस मिल गया था अब भले ही बैग में सिर्फ दो लाख रुपए ही थे और वो पुराने नोट थे लेकिन फिर भी अगर इन्हें मार्केट में ले जाया जाएगा तो इसका अच्छा खासा दाम मिल सकता है वैसे अभी विक्रांत इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता है वो अभी केस पर ज्यादा फोकस करना चाहता है स्क्रीन पर फिर से एक दूसरी फोटो दिखाई देने लगी जो कि गीता द्वारा रिमोट के सहारे चेंज करके लगाई गई थी इस फोटो में सुरंग के भीतर का दृश्य दिखाई पड़ रहा था फोटो की तरफ इशारा करते हुए गीता ने कहा अंदर के हालात देखकर यही लग रहा है कि सुरंग के भीतर किसी विस्फोटक पदार्थ से विस्फोट किया गया था हमें अंदर की चट्टानों पर सल्फर नाइट्रेट भी मिला है सो हम कह सकते हैं कि अंदर विस्फोट हुआ था यहाँ पर यह कहना मुश्किल है कि उन पांचों की मौत विस्फोट के कारण हुई है या फिर लैंडस्लाइड के कारण ये भी कहना मुश्किल है कि वो लैंडस्लाइड नेचुरली हुआ था या फिर जानबूझकर विस्फोट करके करवाया गया था गीता ने फिर से स्क्रीन पर कंकाल की फोटो सेट कर दिया फिर स्क्रीन पर इशारा करते हुए कहा ये देखिए इन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि डेथ के वक्त इन सभी के हाथ बंधे हुए थे हमें वहां उनकी डेड बॉडी के पास से कुछ नायलॉन की रस्सियों के टुकड़े भी मिले हैं जो कि अब तक बिल्कुल सड़ चुके हैं ये बात सुन वहां मौजूद सभी का दिल दहल उठा आखिर कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है छोटे छोटे बच्चों पर उसे जरा भी तरस नहीं आया इतनी बेहरहमी से भला कोई किसी को कैसे मार सकता है वो भी छोटे छोटे मासूम बच्चों को छी गीता ने बिना रुके आगे बोलना शुरू किए ये बस के ड्राइवर अहमद खान का कंकाल है हमने इसकी भी प्रॉपर टेस्टिंग की है हमें ये पता चला है कि अहमद को भी बड़ी बर्बरता से मारा गया है उसे उसके शरीर पर किसी बेहद धारदार चीज से वार हुआ है उसके हार्ट के पास किसी चाकू या नुकीली चीज से कई बार वार किया गया है गीता के इतना कहते ही वहां मौजूद इन्वेस्टिगेटर्स के बीच में बात होनी शुरू हो गई विक्रांत ने सुना कि उसके बगल में बैठे एक इन्वेस्टिगेटर ने अपने बगल वाले से धीरे से कहा अभी तक तो लग रहा था कि अहमद भी किडनैपिंग में शामिल था लेकिन उसका भी मर्डर हुआ है ये सुनकर अब मुझे तो नहीं लगता कि अहमद ने ऐसा कुछ किया होगा तभी दूसरे इन्वेस्टिगेटर ने कहा नहीं क्या पता उसकी पैसों को लेकर अपने साथियों से लड़ाई हो गई हो और फिर उसके साथी ने ही अहमद का मर्डर कर दिया हो हाँ हाँ हो सकता है एक दूसरे इन्वेस्टिगेटर ने भी बीच में बात करना शुरू कर दिया किडनैपिंग के बाद से लेकर आज तक पुलिस को अहमद पर ही शक था पुलिस उसके घर पर भी आए दिन छापेमारी करती थी उसकी फैमिली वाले तो शायद अपना घर भी छोड़कर भाग गए हैं